जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ बाहर कायवलोकन छोड़ो भीतर दृष्टि लगाओ बाहर लोकन छोड़ो भीतर दृष्टि जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ हृदय भवन है ठाकुर द्वारा जहाँ वास करता है प्यारा नित्य सवेरे आरती लेकर प्रभु के सम्मुख जाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ सच्चाई के उठा बुहारे बाहर करो गंदगी सारी आँखों के गंगा यमुना में प्यार को नहलाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ अपने प्राणों के तारों पर श्वास प्रश्वास की झनकारों पर हरिहर का संकीर्तन करके दिगंत गंजाव पुजारी जीवन ज्योति जगाव पुजारी जीवन ज्योति जगाओ राधे श्याम यही पूजन है यही भजन सुमिरन वंदन है नारायण जैसे भीरी जय वैसे उन्हें रिझाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ बाहर का अवलोकन छोड़ो भीतर देठ जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ पुजारी जीवन ज्योति जगाओ राघव दल जब विजय से थायानंद विभोर पूर्ण चंद्र प्रगट तभी पूर्व दिशा की ओर प्रभु बोले देखो तो शशि में है उज्ज्वलता शीतलता भी यह नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी संभव है विधने पूर्ण न हो इस कारण ऐसा किया इसे सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे नल बोला चंद्र बनाने में कौशल यति ब्रह्मा जी का है लग जाए कुदृष्ट नहीं इससे काढ़ा यह काला टीका है तब कहा नील ने नहीं नहीं भूतल के शशि पर माया है कृष्णांग से कारण है यह पृथ्वी के इस पर छाया है है गरल भ्रात कह उठे द्विविद उसका है धुंधलापन इसमें गहता है तक अंगद बोले इसलिए सांवलापन इसमें मुस्कुरा कर बोले जाम्बवान रहता है पापन छुपा हुआ आचरणों में यह दूषित है वही कलंक यह लगा हुआ चुनरी में निश्चित की अंबर पर सर्वत्र शोभित थे मुक्ता सदृश यत्र तत्र नक्षत्र बढ़ा पूर्व की गुहा से जब मयंक मृगराज मानो तम गज भाल को चूर्ण करेगा आज देख दृश्य मुदित मन बोल उठे बजरंग मेरे भी अब कुछ सुने है जब यही प्रसंग श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय हो आगे बढ़ता है प्रभु के श्यामल छवि है उर्मी यही उसकी श्यामलता है नक्षत्रों का कर तेज मंद निष्पति जो नभ पर छाया है त्यो ही असरों को कर परास्त रघुपति ने सुयस कमाया है हनुमत की इस युक्ति ने डाला नया प्रकाश जैसे श्री रघुनाथ की गूंज उठाया काश कपिदल चारों ओर था मध्यवीर हनुमान सब मिल कर करने लगे निज प्रभु का गुणगान राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम जी का नाम है सदैव हर्षदाई रे राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम जी का नाम है सदैव हर्षदायी रे सोते जागते हर समय रहे राम का ध्यान तो जीवन संग्राम का जीत लिया मैदान राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे जन्म का यह बड़ा लाभ बड़े यह कमाए रे राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम जी का नाम है सदैव हर्षदाई रे मन में हो श्री राम जी मुख से मीठे बोल जीवन यात्रा में बढ़ो एक एक पग तोल जीवन यात्रा में बढ़ो एक एक पग तोल इसे में है भलाए राधे श्याम सर्वथा भलाए रे राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम जी का नाम है सदैव हर्षदाय रे राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम कहो राम कहो राम कहो भाई रे राम नाम के स्तर थे जब गुंजय पार रावण के रनिवास में था तब हाहाकार निश्चर पति ने जाकर देखा करुणा के घटा छा रही है बेटे के मरने से रानी जीते जी मरने जा रही है इसमें कुछ भी संदेह नहीं जब दुख शेष पर आता है कितने भी धीरज वाला हो धीरज उसका टूट जाता है फिर भी साहस कर दस कंधर बोला कैसा यह सापा है मेरे जीते ही जी घर में इस भात शोक क्यों व्यापा है सेना धोना रोना धोना अब बंद करो मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ यह कर मठ में गया जपा प्रकर्षण मंत्र अहि रावण पाताल से आया खींच परतंत्र यह अहि रावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर राता सारा था सहस साहस में और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था देवी का परम उपासक था निज इष्ट सिद्ध में पूरा था वरदान मिल चुका था इसको तुझको न हराएगा कोई पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई अहि रावण ने जब सुना रावण का मंतव्य सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य बोला जाता हूँ निष्घी में दोनों को हर ले जाऊंगा बलिदान मांगती है देवी उनको यह भेंट चढ़ाऊंगा चांदनी रात यति बाधक है पहले इसको ही हरना है माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है यह कह रावण चला किया मंत्र उपचार मामस जैसा तुरंत ही फैला तिविर अपार